और उसने तुम्हें हर चीज़ में से दिया जिसका भी तुमने उससे सवाल किया और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करो तो उन्हें शुमार नहीं कर पाओगे बिलाशुबा इंसान यकीनन बड़ा जालिम बहुत नाशुक्रा है